तुम फरमाओ कौन रब है आसमानों और जमीन का तुम खुद ही फरमाओ अल्लाह तुम फरमाओ तो क्या उसके सिवा तुमने वो हिमायती बना लिए हैं जो अपना भला बुरा नहीं कर सकते हैं तुम फरमाओ क्या बराबर हो जाएंगे अंधा और अंखियारा या क्या बराबर हो जाएंगे अंधेरिया और उजाला क्या अल्लाह के लिए ऐसे शरीक ठहराए हैं जिन्होंने अल्लाह की तरह कुछ बनाया तो उन्हें उनका और उसका बनाना एक सा मालूम हुआ तुम फरमाओ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے